पांचवी का अधिकारिका मैंने हम्म, उन्हें थे प्रति पहले तीनों प्रमाणों के लक्षण बताए इसमें पृथ्वी से अध्यवसायो दृष्टम और त्रिविधम अनुमान आख्यातम तल लिंग लिंगी पूर्वकम मैंने तल लिंग से क्या लेना है हेतु लिंगी माने साध्य तो तल लिंग लिंग पूर्वकम आगे क्या कहा प्राप्त वचनम मान श्रुति आप्त वचनम मैंने जो हमने कहा है तो आप्त वचनम क्या है तो उन्होंने कहा था आप्त वचनम इति आप्त माने आपता प्राप्ता युक्ता जो वचन है वही क्या है आप तो वचन है यह श्रुति प्रमाण है फिर वो श्रुति मूलकत्वात इतिहास आदि वाक जन ज्ञानम अपनी प्रमाणम इतिहास पुराण आदि वाक जन ज्ञान हुआ फिर उन्होंने कहा सर्व प्रमाण सिद्धत्वा त्रिविधम प्रमाण स्तम था तो तीन प्रमाण कौन कौन बताए तो उन्होंने कह दिया ये तीन है उन तीन में सातों का अंतर्भाव कर दिया बाकी का जो सात मने नौ प्रमाण जितने थे सबका अंतर्भाव है कितने में तीन में छह का अंतर्भाव अब उसके बाद बता रहे हैं कि कौन प्रमाण की कहाँ तक एक तरह का गति है प्रत्यक्ष क्या कर कहाँ तक जा सकता है अनुमान का क्या प्रयोजन है क्यों अनुमान के बिना काम नहीं चल सकता और आगम के बगैर काम क्यों नहीं चल सकता जहाँ प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों की गति नहीं होती वहाँ कौन शुरू होता है वेद वही ये बताना चाह रहे हैं ये सर्वप्रथम लेकर एवं तावद व्यक्ता व्यक्तज्ञ ये तीन चीजें व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात उन्होंने कहा था क्या कहा था दृष्टवद अनुसर्विका अभिशुद्धयाक्षयातिशय तत्थ्रेयान तद विपरीता व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात तो उन्होंने कहा व्यक्ता व्यक्त का भी व्यक्त कितने था अव्यक्त बताया मूल प्रकृति अव्यक्ति फिर उनमें प्रमाण बताया अब उनको ही कहने जा रहा एवं तावद व्यक्त अव्यक्त ज्ञ लक्षण प्रमेय सिद्ध्यर्थम यही हमारा व्यक्त प्रमेय कितने हैं तसोढ़कस्तु और सात कितने हो गए जो नहीं दिख रहे आप से वही हो गया तरह अव्यक्त कोटि में आ जाएंगे जो दिख नहीं रहे और क्या होगा ज्ञा माने पुरुष तीन ही प्रमेय है मैंने हैं चौबीस में ये तीन में अंतर कर दिया ये सात पदार्थ हैं और ऐसे उनका सबका भेद कर तो कितना हो जाएंगे मैंने द्रव्य के कितने भेद हैं तो और और चौबीस भेद किसके गुण के हैं पांच कर्म हम्म। हाँ, हम्म। हाँ तो कितने हो जाएंगे बहुत उसी प्रकार इन्होंने तीन कोटि में दिया फिर वह व्यक्त का अलग करेंगे फिर अव्यक्त का अलग किए और फिर ज्ञा इसीलिए कहने जा रहे हैं अव्यक्त अब क्या लिखना है व्यक्ता व्यक्तज्ञा सिद्धार्थम इन तीन प्रमेयों की सिद्धि के लिए व्यक्त प्रमेय की सिद्धि लिए अव्यक्त प्रमेय की सिद्धि के लिए लक्षण हमारा ज्ञान लक्षण जो प्रमेय है जिनको मन प्रमा के जो विषय हैं उनकी सिद्धि के लिए प्रमाणानी लक्षितानी मैंने प्रमाणों के लक्षण हमने बता दिया मन लक्षितानी मन निरूपितानी प्रमाणों का निरूपण कर दिया उनका लक्षण भी बता दिया किस प्रमाण का क्या लक्षण है ये संपूर्ण बातें कह दी मैंने व्यक्त का तात्पर्य इंद्री ग्राह्य से अव्यक्त का तात्पर्य इंद्रिय से अज्ञा माने पुरुष चेतन यहाँ जो लिखा ना तीन मैंने अव्यक्तम माने इंद्रियातीतम जो इंद्री का विषय नहीं है व्यक्तम माने इंद्री गृहीतम जो दिख रहा है व्यक्त हो गया इंद्री गृहीतम व्यक्तम मन पृथ्वी आदि अब व्यक्त कौन हो गया इंद्री प्रधान है अहंकार है बुद्धि है ये सब क्या है पंचतन मात्राएं सब क्या है इंद्रिय है अज्ञा माने पुरुष जो चेतन है यही त्रिविध लक्षण प्रमेय सिद्धि के लिए प्रमाणानी लक्षितानी मन प्रमाणों के लक्षण कर दिए गए तत्र व्यक्तम लिखने को तत्र व्यक्तम पृथिव्यादि स्वरूपतः जो पृथ्वी जल तेज हमको दिख रहा है तो बताइए पांसुल पादको हालिकोपी इन्होंने बड़ा सुंदर पांसुल पादकोपी पांसुल पाद का धूल दूषित चरण पांसु माने वही होता है जो धूली पांसुल माने क्या होता है धूली के जो कण होते हैं ना हाँ उनका नाम क्या होता है पांसुल और वह जिनकी पैर में लगा रहता है हो गया पांसुल पादका जो लोग पैदल ऐसे चलते फिरते अत्यंत गमार इनका अर्थ किए और जो सब जगह घूमते फिरते रहते हैं वो ही हम जानते पृथ्वी है प्रत्यक्ष नहीं देख रहे हैं कितना सुंदर कह रहे हैं पांसुल पादका और को जो हल जोतने वाला हालिक उसको कहते हैं तो हल जोतने वाला भी जिसको समझ सकता है पाँच सौ लपादक भी क्या तो समझ सकता है वही उन्होंने कह दिया पांच सौ अलग है और हाल कोपी प्रत्यक्षता प्रति पद्यते मन निरपेक्ष होकर निसंदेह होकर के प्रत्यक्ष न पृथिव्यादि जानाती अन्य करना मान प्रतिपद्यते किम प्रतिपद्यते पृथिव्यादि प्रतिपद्यते माने यह धातु कहाँ के प्रतिपद्य थे दिवादी गण के माने पद्यते देवदत्ता कर्मवाच मत समझ लेना इसलिए बताया मैंने प्रतिपद्यते माने जानाति प्रति उपसर्ग पूर्वक पद धातु का अर्थ होता है ज्ञान अर्थ इसलिए प्रतिपद्यते कौन प्रतिपद्यते हालिका प्रतिपद्यते पांशुल पादक प्रतिपद्यते कथम प्रत्यक्षता सर्वभक्तेभ्य तसिल वक्तव्य मैंने प्रत्यक्षेण कम प्रतिपद्यते किम पृथिव्यादि प्रमेयम उपद्रव मन पृथिव्यादि जो प्रमेय है व्यक्त इन पृथिव्यादि प्रमेय को स्वरूपता जैसे ये है मोटे ताजे सब स्वरूपता किंग करोती यहाँ पर प्रतिपद्यते जानाती उनको जान लेता है हाँ सब ये है ना इंद्रिय के विषय तो है हाँ ये सब व्यक्त हो गए इसलिए इंद्री इंद्री ग्राह्यम व्यक्त का लक्षण हो गया अतः जितना ये घट पट मट जितना स्थूल रूप है यही स्वरूपता प्रत्यक्ष हो गया तद वितपाधनाय ये तो हो गया अत्यंत जो एकदम मंद लोग मने गंवार वो भी क्या जानते हैं सब इसके लिए कोई शास्त्र की प्रयोजन नहीं है शास्त्र यदि यही बताए तो शास्त्र बताना फिर व्यर्थ है ये कहने जा रहे हैं यदि तम तद वित्पादनाय मंद प्रयोजनम शास्त्र यदि इन्हीं बात को बताता <laughs> हाँ, इति हो गया प्रतिपद्य पूर्वता च न धूमादि दर्शनात् बन्यादीनी तीन प्रकार का अनुमान बताया था पूर्वत शेषवत सामान्य तो दृष्ट ये सामान्यता का भी बताने वाले हैं इसलिए पहले उन्होंने कहा पूर्व हता उस पूर्व के दो भीत थे भीतम अभीतंचा भीतम माने विशिष्टेन इतं ज्ञातम इत भीतम माने अन्वयी अभीतम माने जो विशिष्टेन ज्ञात ज्ञातम माने न ज्ञातम होता अभीतम माने व्यतिरेक व्याप्ति मद वाले का नाम हो गया अभीतम और अन्वय व्याप्ति मद का नाम हो गया बीतम तो वही किसका भी दोनों पूर्ववत के भेद थे इसके थे हाँ भाई पूर्वता च अनुमान धूमादि दर्शनाद पूर्वत अनुमान हुआ उसने धूमा के द्वारा क्या हुआ यद्यपि व्यवहित है कितनी दूर है धुआं देखेगा बन्नी व्यवहित है फिर भी बन्नी का ज्ञान हो जाएगा किसके द्वारा हो जाएगा धूम लिंग के द्वारा यही बात यदि शास्त्र बताए तो मंदप प्रयोजन कोई अपूर्व शास्त्र का प्रयोजन नहीं हुआ इसलिए बताने जा रहे हैं कि जितना जो है अतः व्युतपादनाय उन्होंने कहा अतः यहाँ पर जो कुछ है हमारा पूर्वत संज्ञक जो अनुमान है उस अनुमान से क्या होने वाला धूम आदि दर्शनाथ क्योंकि पहले धुआं देखा जाएगा धुआं के द्वारा क्या हुआ था अभी देखे आना एन पुरुषेण महान महानसादौ व्याप्ति धूमादगृहीता धूमाद व्याप्तिर्गृहीता पुरुषा क्वचित पताधिक अविच्छिन्न मूलाम रेखा पश्यति तत्पश्चात तत्पश्चात लिखा है वहाँ पर माना धूमो बनी व्याप्या इति व्याप्ति स्मरती तत्पश्चात जनम दते वह परामर्शा ये कहा वही यहाँ लिखने इति पूर्वता चानुमान धूमादि दर्शनात मन पूर्वता नाम पूर्वत अनुमान का नाम है तो धुआं अन्न वितरे की है अन्वय भी धुआं है यत्र धूमा तत्र बन्ही यत्र बन्निरनास्ति तद धूमो नास्ती ये अन्वय व्यतिरेक व्याप्तिमत है धूम हेतु कैसा है अन्वय व्यतिरेक व्याप्तिमत इसका मतलब ये पूर्ववत है पूर्व के दो भेद हैं अन्वय व्याप्तिकम व्यतिरेक व्याप्तिकम इसीलिए उसने कहा पूर्वता चानुमान पूर्वत जो अनुमान है व्याप्ति ज्ञान है व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान और अन्वय व्याप्ति ज्ञानवत जो हुआ धूमादि दर्शना धूम देखेगा तो तुरंत किसका ज्ञान हो जाएगा बन्यादीनी विवहितानी बन्यादीन्यपि प्रतिपद्यते विवाहित हुआ गांव वाला आदमी समझ जाता है युवा देखे कि भैया आ गए यहाँ पर इसीलिए कह रहा प्रतिपद्यते आन में कर लीजिए मैंने वह पुरुषा प्रतिपद्यते अतः तदवित यदि यही दोनों को बताना हो प्रत्यक्ष वाले को बताना हो और मैंने पृथ्वी आदि के ज्ञान कराने के लिए शास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं है मैंने तदवित पादनाय मैंने पृथ्वी आदि अर्थबोधनाय मंद प्रयोजनम शास्त्रम मंद प्रयोजन का अर्थ क्या अल्पम मान निष्फलम प्रयोजनम बा दो अर्थ किया एक तो अल्प प्रयोजन शास्त्र का है अल्पम माने निष्फलम शास्त्र सियात अल्प प्रयोजन शास्त्र किम सियात वही कहने जाता मंद प्रयोजनम शास्त्र इति दुरधिगमन व्युत्पादनीयम इसलिए जो अत्यंत जो कठिन चीज है उसको व्युत्पादन करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है मैंने दुराधिगम क्या लेकर आए हैं मैंने अत्यंत जो बहुत व्यवहित है उसका भी ज्ञान कराने अतः शास्त्र से सफलता है मैंने शास्त्र की सफलता के लिए क्या करना पड़ेगा दुराधि गम गमम जो दुराधिगम है मन दुरावबोध है अधिगम माने ज्ञान और दूर माने अत्यंत कठिन रूप से जो ज्ञान होने वाला है जहाँ पर प्राकृत नरों की गति नहीं है हल जोतने वालों को उन लोगों को बताने का प्राकृत नरा अविदितम जो प्राकृत सामान्य मनुष्य के द्वारा जो विदित नहीं है वो कौन चीज हुई अव्यक्त हुई उस अव्यक्त आदि को ज्ञान कराने के लिए किम आवश्यकम अस्ती शास्त्रम आवश्यकम व्यक्त के लिए शास्त्र की आवश्यकता नहीं है वही कहने जा रहे हैं दुराधिगम दुराधिगमन मन दुरवबोधन वितपादनीयम तत्र प्रमाणम उसमें प्रमाण कौन होगा हमारा शास्त्र होगा अतः तत्र यद प्रमाणम ऐसी वस्तु में जो जो प्रमाण है क्या है जो प्रमाण है उसे क्या बोलते हैं तत् प्रमाणम यत्र सक्तम मन उसमें जो प्रमाण समर्थ है तद उक्त लक्षण प्रमाणेभ्या उक्त लक्षण प्रमाण कौन हो गया पूर्ववत हो गया और प्रत्यक्ष हो गया इन प्रमाणों से विलक्षण जो उनसे अलग करके विशेषता हम इसलिए उसको सामान्यता नाम का अलग बताने जा रहा है इसीलिए कह रहा विशेषता माने सामान्यता उन्होंने कहा जो कह दी अव्यक्त प्रधान आदि जो मध्य में जो अतीन्द्रीय प्रमाण है कौन से प्रमाण हुए हमारे अतीन्द्रीय जहाँ व्यक्त के प्रमाणों की गति नहीं है जो अव्यक्त पुरुष और कौन हुए हमारा प्रकृति उनको जानने के लिए शास्त्र चाहिए वही का तत्र यद प्रमाणम तस्मिन माने जो दुराधिगमने गमे कौन दुराधिगम है तो प्रधान और कौन दुराधिगम है माने वही पुरुषा माने वही जो अहंकार हुआ महाद हुआ पंच तन मात्राएं ये सब क्या है दुराधिगम है और पुरुष भी क्या है दुराधिगम है इनके प्रतिपादन करने के लिए अतीन्द्रिय है ये अतः अतीन्द्रिय इसलिए दूसरा यत्र माने यस्मिन अतीन्द्रिय शक्तम शक्तम माने समर्थम शक्तम पढ़े हो ना समर्थापति विधि में क्या उत्पत्ति उसकी है हम्म। समः संगता अर्था इति समर्था समर्था संगता संश्रिष्टः अर्था समर्था अतः शक्त समर्थ माने सकता कार्य जनने सकता ठीक है तैयारी है रामकृष्ण जी की ये कह दिया अतः यहाँ पर यद प्रमाणम यस्मिन अतः अतीन्द्रिय यस्मिन माने अतीन्द्रिय यत प्रमाणम माने शक्तम माने समर्थम तद प्रमाणम व प्रमाण उक्त प्रमाण निष्कृत माने विभज्य जो अभी हमने पूर्वत जो प्रमाण दिया प्रत्यक्ष जो प्रमाण दिया उनसे अलग उसको बता है उन्हीं में अनुमान का ही भेद एक है परंतु वो क्या उससे कुछ अलग इसलिए हम तीन भेद बताए थे इसलिए कहने जा सामान्य प्रमाण की चर्चा करने जा रहे हैं वही कार्य सामान्य तस्ता सामान्य तस्त कारिका का प्रतीक लिए अवधारण देने जा रहे हैं सामान्य तस्तु दृष्टात अतीन्द्रियाणा प्रतीतिरनुमानात अनुमात तस्मादिचा सिद्धम मोक्ष माप्ता गमात सिद्धम सबसे उन्होंने कह दिया क्या चीज है तो सामान्य तो दृष्टात मैंने सामान्य तो दृष्टात अनुमान विशेष का उपादान किया तीन प्रकार का अनुमान बताया था कौन कौन तीन सामान्य तो दृष्ट इसलिए कहना जा सामान्यता दृष्टात माने अनुमानात अन्य के माने सामान्य तो माने उन्होंने क्या कहा अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र आरोपा है सामान्य तो दृष्ट वह जो सामान्यता जो क्योंकि तीन अनुमान बताते यत्र कार्यण कारण से अनुमान वो कौन हो गया शेषभत यत्र कारणेन कार्य से अनुमान अपूर्वत यत्र अन्य दृष्ट अन्यत्र आरोप ज्ञान करना हो गया सामान्य तो दृष्ट तो ये कहना सामान्य तो दृष्टात ऊपर कर लीजिए और अनुमानात अतीन्द्रियाणाम प्रतीति ही मैंने सामान्य तो दृष्टि अनुमान विशेष शब्द का प्रयोग किया किस लिए किया तू शब्द माने सामान्य दृष्टात माने तो कौन होता है प्रत्यक्ष भी होता है मैंने तू शब्द प्रत्यक्षात विष्णष्ट मैंने प्रत्यक्ष से भिन्न जो सामान्य तो दृष्ट नाम का जो अनुमान है क्या कहा उन्होंने सामान्य तो दृष्टात वह सामान्य तो दृष्ट कैसा है अनुमानात मन पूर्व वन नामक जो अनुमान है उस अनुमान से यह भिन्न अनुमान है इसका नाम क्या है सामान्य तो दृष्ट अनुमान में तीनों आएंगे पूर्वत भी आएगा शेषवत भी आएगा सामान्य इसलिए इतना यदि प्रयोग करते नाम प्रतीतिर अनुमानात तो पूर्वत भी ले लिया जा सकता था उसको हटाने के लिए क्या विशेषण लिया अनुमान में सामान्य तो दृष्टात सामान्य तो दृष्टात किसकी व्यावृत्ति करता है पूर्वत अनुमान की वो तो अनुमान से प्रत्यक्ष की व्यावृत्ति हो गई अनुमानात के प्रत्यक्ष व्यावृत्त हो गया पर पूर्वत व्यावृत्त नहीं हुआ इसलिए कह दिया सामान्य तो दृष्टात ऐसा अनुमान है जो कह दिया अतः पूर्व नामक अनुमान को अलग कर दिया इसलिए कहा सामान्य तो दृष्टा अनुमानात किम भवती अतीन्द्रियाणाम अतीन्द्रिय कौन है अव्यक्त है और हमारा महद है अहंकार है पंच तन मात्राएं है पुरुष है अतीन्द्रियाण और प्रकृति माने अव्यक्त अतीन्द्रियाणाम प्रतीति ही भवती प्रतीति माने बोधा मन इंद्रियम अतिक्रम वर्तनते एते अयानि तानि अतीन्द्रियाणि तेषाम मन इंद्रियातीत जो पदार्थ इंद्री के विषय जो नहीं है उन पदार्थों की प्रतीति माने बोध किससे होता है अनुमान से होता है अतः सामान्य तो दृष्ट नामक अनुमान से होता है अब यदि सामान्य तो अनुमान भी यहाँ गति नहीं है तब आएगा आगम तस्मादपि च असिद्धम मैंने सामान्य तो दृष्ट नामक अनुमान से भी यदि पदार्थ सिद्ध नहीं है असिद्ध है मैंने ज्ञात नहीं है अतः परोक्षम परोक्ष है परोक्ष नहीं परोक्ष माने प्रत्यक्ष उल्टा सीधे अक्षणा पर परोक्ष दीवार के पीछे कहीं भी हम बताएंगे वहाँ लिखा साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म लिखा पागल वहाँ पर कहाँ कह रहा तो अपरोक्ष माने क्या होता है प्रत्यक्ष हाँ, तो अपरोक्ष का उल्टा नहीं अपरोक्ष माने प्रत्यक्ष होगा परोक्ष माने जो तुमको नहीं दिख रहा है अपरोक्ष माने उल्टा माने दिखे जो वही जो इससे असिद्ध है अपरोक्ष है जो हम देख नहीं सकते हैं स्वर्ग को देखे हो तुम और किस कौन बताता है स्वर्ग के विषय में वेद बताता है वही कहना है अतः असिद्धम परोक्षम आपतागमात सिद्धम आपतागमात असिद्धम परोक्षम सिद्धम जो अनुमान ने जिस परोक्ष की जो असिद्ध था उसको किसने सिद्ध कर दिया आपतागमात सिद्धम वही लिखने जा रहा है कि जो वही प्रधान आदि की जो प्रतीति है न तो किससे हो सकती है प्रत्यक्ष से भी नहीं हो सकती है न पूर्वत अनुमान से हो सकती है किससे हो सकती है सामान्य तो दृष्ट नामक अनुमान से होती है वही तू तो शब्द प्रत्यक्ष पूर्वदभ्याम विष्णष्टि माने प्रत्यक्ष प्रमाण को हटा रहा है और पूर्ववद नामक अनुमान प्रमाण को भी हटा रहा विष्णष्टि माने विवच्छेदयति छिन्नति मैंने अलग करता है कौन शब्द करता कौन हुआ तू शब्द विष्णष्टि मैंने व्यक्षिन्नति क्यों थी व्यक्षिन्नति मैंने अलग कर रहा है इसको वही कह विष्णक्षी और सामान्य तो दृष्टात अनुमानात अब अनुमान कहने के अनुमान क्या चीज है ज्ञान है अनुमान का इनके आप प्रमाण किम रूप है तो वह ज्ञान धर्म किसका है अध्यवसायो बुद्धिर इसे लिखना पड़ा अध्यवसायात ये बुद्धि में मानते हाँ बुद्धि वृत्ति जो वृत्ति है वह प्रमाण और चित्त पुरुष वृत्ति जो है प्रमा है वही कहने जा इसे लिखाना क्या पड़ा मैंने सामान्य तो दृष्टात अनुमानात तो कोई ये अनुमान का मतलब हुआ अनुमान मतलब शब्दात्मक लेना है इसीलिए उन्हें कहना पड़ा अध्यवस अध्य वसायात मन जो सामान्य तो दृष्ट नामक जो चित्त वृत्ति है उस चित्त वृत्ति से क्या होता है हमारा इंद्रियाणाम क्या होती है इंद्रियाणाम किम भवती अस्माकम प्रधान पुरुषादी नाम मैंने लिंग ज्ञान से एक क्या होगा ज्ञान उत्पन्न होगा उस ज्ञान के बाद क्या होगा अनुमिति होगी अर्थात जो व्यवसायत्मक ज्ञान है मन पर्वतो बन्हीमान तो हुआ हुआ व्यवसायत्मक ज्ञान और पर्वत बन्हिम नवमी यह हुआ अनव्यवसाय तो ये इनके यहाँ क्या होगा परमा होगी हाँ यहाँ जा करके इसे लिंग लिंग ज्ञान से जन्म जो बोध उस बोध का नाम है अनुमान और उस अनुमान से जायमान जो उसका नाम है अनुमिति लोग प्रमात्व और अप्रमात्व को प्रकाश स्वतः ग्राह्य मानते हैं पर स्वतः प्रकाश अलग चीज है स्वतः ग्राह्य अलग है स्वतः ग्राह्य मानते हैं स्वतः प्रमाण हाँ स्वतः प्रमाण माना स्वतः ग्रहित होता माने इन इंद्रिय ज्ञानम के तदेन इंद्रियण तद प्रमाणे नैव तदगत प्रमात्म गृहते ज्ञान ग्राहक सामग्री ग्राह्यम स्वतस्व दोषाभाव सहकृत यावत ज्ञान ग्राहक सामग्री ग्राह्यत्व ठीक है स्वतस्व है चलिए इति प्रधान नाम प्रतीति प्रतीति नाम प्रतिपत्ति ही कथम भवती तो चित पत्तिर बुद्धिर अध्यवसाय मान चित्त माने चैतन्य की जो छाया छाया माने प्रतिबिंब वही बुद्धि का वृत्ति का अध्यवसाय है क्योंकि बुद्धि तो जड़ है उसमें तो प्रकाश हो नहीं सकता इसलिए बार बार क्या लगा चित छाया पीछे भी किया था जिन्हें आप कोष्ठ में लिख दिया तुम्हारे में पाठ है हमारे चित छाया पत्तिर बुद्धिर अध्यवसाया बुद्धि का अध्यवसाया चित छाया पत्ति ही मान जो चैतन्य जो पुरुष है उसका प्रतिबिंब पड़ना यही क्या चीज हमारा है चित छाया है यही हो गया बुद्धि का अध्यवसाय और यही बुद्धि का अध्यवसाय ही क्या है प्रमाण है यही प्रमाण है उपलक्षणम एतत् किसी ने कहा आपने सामान्य तो दृष्ट दिया है तो कहा है कि सामान्य तो दृष्ट उपलक्षण शेषवत का भी अर्थात शेषवत अनुमान से भी जित ज्ञान होता है इंद्रिया नाम और सामान्य तो दृष्ट से दो केवल प्रत्यक्ष और पूर्व से नहीं होता सामान्य तो दृष्ट से भी होता है और किसे होता है शेष शेष का क्या लक्षण है कार्येण यत्र कारण से ज्ञानम भगवत होती शेष शेषवत कारण के द्वारा जहाँ कार्य का ज्ञान हो वही कहने जा रहा है हाँ? पूर्व वाले मतलब न कार्य से यहाँ है न कार्य कारण से उल्टा अतः उपलक्षण चेतत शेषवती दृष्टव्य मन उप मन सामान्य तो दृष्टम ग्रहणम कस उपलक्षणम तस्यापि उपलक्षण मन शेषवत अनुमान से भी कुछ अचिंद्री पदार्थों की प्रतीत तो होती है तो आपने कैसे कहा सामान्य तो दृष्टि से अतिद्रियों की प्रतीति होती है जिन्होंने कहा उपलक्षण है क्या वो उपलक्षण है दोनों से भी होती है तत् तत्किम सर्वेशु अतिद्रियु सामान्य तो दृष्टम तथा च यत्र तन्नास्ति महदाद्यारंभ क्रमे स्वर्गा पूर्व देवता दौचा अब बताने जा रहे हैं इतना तो कर दिया पहले सामान्य तो दृष्ट प्रमाण की गति कहाँ तक है शेषवत की अतिद्रियाणाम महादादी नाम पुरुष का ज्ञान करा देगा परंतु स्वर्ग का ज्ञान उसके लिए लिखने जा रहा है तत् तत् तत् किम सर्वेशु अतिद्रियु जितने अतिद्रिय पदार्थ सामान्यता दृष्ट अनुमान दृष्टानुमान की वहां प्रवृत्ति होती है सर्वेशवपी किम वो प्रश्न पूछ रहा है क्या जितने अतीन्द्रीय पदार्थ हैं सामान्य तो प्रवृत्ति होती है वह कहना चाह रहा है कि और भी किसी की होती है वही कहने जा रहा प्रतीतिर भवती तो कह नहीं के सांचित अतिद्रिया बताएगा तथा च यत्र जहाँ पर हमारा सामान्य तो दृष्ट प्रमाण की गति नहीं है मान यत्र मन यस्मिन माने प्रमेय अतीन्द्रिय सामान्य तो दृष्टानुमान नास्ति नास्ति न ना प्रवर्तते तथा च यत्मन यस्मिन अतीन्द्रिय तन तद माने सामान्य तो दृष्टम अनुमान नास्ति नास्ति न ना प्रवर्तते यत्र का क्या तथा च माने यत्र शब्द यत्र माने यस्मिन अतीन्द्रिय जो अतीन्द्रिय पदार्थ है तन तन्माने सामान्य तो दृष्टम अनुमानम न ना प्रवर्तते तो कौन चीज है तो बताने जा रहा है महादाद्यारंभक आरंभ क्रमे कालिका महादादि आरंभक महतो प्रगतिर महान महतो अहंकार इत्यादि जो आविर्भाव क्रम है उस आविर्भाव क्रम का ज्ञान से नहीं हो पा रहा है स्वर्ग आदि परलोकी जो स्वर्ग आदि जो परलोक उसका साधक कौन हुआ जो धर्मा धर्म जो अपूर्व नाम का धर्म और अधम इंद्र आदि जो देवता याग आदि जायमान जो पुण्य वह सब तो पता नहीं चलेगा अनुमान से जैसे लिखा स्वर्ग आदि स्वर्ग अपूर्व देवता दौचा कौन सा देवता इंद्र देवता आदि तेषाम अभाव प्राप्त के न सामान्य तो दृष्टानुमान न अभाव माने असिद्धि प्राप्त उनसे सिद्ध नहीं हो पाएंगे सब उनकी असिद्धि होने लगेगी इसलिए क्या कहना पड़ा तो कहा उसके लिए हमने लिख दिया क्या दपी असिद्धम माने अनुमान सामान्य तो दृष्ट अनुमान से जो असिद्ध है मैंने जिनका सिद्ध माने प्राप्त असिद्ध माने अप्राप्त जिनका बोध है वो कैसे होंगे आपता वही कह तस्मादपि एतावत सिद्धि फिर क्या लेगा चकारेण शेषवद इत्यपि समुचितम तस्मादपि चा क्या लेगा तस्मादपि चा क्यों लिख दिया माने तस्माद सामान्य तो दृष्ट अनुमानात शेषवत अनुमानात चा असिद्धम मैंने चाह सामान्य तो दिष्ट अनुमान से भी सिद्धि नहीं हो पा रही है और शेषवत अनुमान से भी जब सिद्धि नहीं हो पा रही है तब कौन आता है आप यही वेद का वेदत तो जहाँ कोई प्रमाण की गति नहीं होती वहाँ कौन जाता है शब्द प्रमाण वही कह रहा चकार समुचितम उससे जब असिद्ध होगा तो किसकी हो जाएगी बाकी इस पर लिख नहीं रहे तस्माद विचार सिद्धम तद आपता सिद्धम वो आपका आगम से क्या हो जाता है सिद्ध हो जाता है अब उस पर लिखने जा रहे हैं आगे क्या लिख रहे हैं सब कह करके अब तीसरी कारिका का उपक्रम करने है। अरे सातवीं कारिका कुछ बचा है अब है हाँ आगे वाले का जो अलग कर दीजिए होंगे छठवीं कारिका हो गई